और गया किसी और में ये व्यवस्था तो बिल्कुल ही नच भवरी अयकांत मणि के समान वो आकृष्टा हो नहीं सकता एक प्रधान कर्म संवेदित कर्मण स्कंद राष्ट्रीय ऐसे कहोगे तुम न संबोधि क्यों आत्मकृतम अकर्त समेतम भवित न होती न भवती जो आत्म समेत है वो कर्त संवेद वस्तु अकर्त में जाकर के रह जाए ऐसा हो नहीं सकता तो भूताश्रम चिन्ह साधु भूताश्रम चिन्ह अरे कोई भूतों में चार वर्ग कहते हैं कर्म फल सारा यही है अपने और नहीं जिंदा जिंदन साधु साधन में साध्य नहीं तो रह कर्मी क्रिया साधन भूतानी भूतानी कर्ता के से उत्पन्न होने वाले क्रियाओं के साधन भूत होते हैं ये सारे भूत पदार्थ क्रिया काले अनुभूत व्यापाराणी समाप्त हलाज कर्त प्रत्यक्ष क्रिया काल में वो हमारे अनुभूत व्यापार का विषय बन जाते हैं और समाप्त होने पर कर्तव्य को परित्याग किया जाता है जैसे हल आदि खेती जैसे हल होता है खेती में कृषक क्या करता है किसान वो हल को लेके जाता है और उसका व्यापार वाला बना रहता है तो जहाँ व्यापार हो गया उसको ढाल बल देता है क्या कर ठीक उसी प्रकार से ये सारे पंच महाभूत और भूत भौतिक सृष्टि ये सारा क्या है हमारे क्रिया के साधन है जब हम क्रिया कर रहे हैं तब इन साधनों को अपनाए हुए हैं क्या हमें क्रिया करना नहीं होता सो जाते हैं कहाँ निर्भर होता है सृष्टि कोई इसीलिए न फलम कालांतरिक कर्तव्य उत्साह वो जो साधन स्वस्थ हो आपको कालांतर फल प्रदान करने वाले पूर्ण नहीं हो सकते नहीं आदम क्षेत्र प्रवेश भी ये जो हल है तो क्षेत्र से धान को घर तक पहुंचा पाएगा और तो साधन फल नहीं देता फल तो करता ही देता फल तो देने वाला कोई दूसरा ही भूत कर्मणो हो चेतन तो भूतों में नियम कर लिया है तो अभी वो भी नहीं हो सकता वो तो अचित स्वतः प्रवर्तन करती ही ऐसा चेतनावस्था में स्वतः प्रभुत्व वो मिलती है वायुवत हाँ, देख रहा दूसरा वाक्य लाया वायु निचेत न वायु के समान करो तो कहो वो भी नहीं होता असिध था हाँ, क्योंकि वो असिध होने से वायुवत विचेत न असिद्ध होता फिर मेरे को विषय विद्यार्थियों वायु के समान क्या है वो क्या कर नहीं वाया अच्छी की मता स्वतः की सत्ता वो पक्षी आशे था वायु जो है ना जब होता अभी स्वतः ही प्रवृत्ति कर है स्वतः ही वो वायु बहते कोई उसका प्रेरक नहीं उसी प्रकार से जड़ होता हुआ कर्म बिना प्रेरक का भी करो बल को दे सकते ऐसा पूर्व पक्ष ने तो सिद्धांत ने ना नहीं वायु और अच्छी की मत स्वतंत्र प्रवृत्ति से था अदर्शना जैसे लगा भी जड़े तो वायु भी अच्छी की मत होने के कारण से जड़ होने के कारण है वह स्वतंत्र प्रवृत्ति उसकी सिद्धि नहीं हो सकती प्रदारिश अदर्शना दिया को लेकिन वो तो लौकिक है ना ये तो वेद जन्य चीज है कर्म क्या है अपूर्व वेद के द्वारा वेद कर्म जन्य होने के नाते इसके अंदर सामर्थ्य है वेद कह रहा है इसलिए मानो शास्त्र कर्म नहीं ना शास्त्र प्रमाणता को देखते हुए कर्म से ही जो है फल प्राप्ति होता है कर्म के रथ की जरूरत नहीं है देखिए सिद्धांत को भी नहीं सकते स्वर कामोचित इत्यादि शास्त्र ही क्रिया तत्पर सिद्धिमा न है क्या क्या है उसी भी पहले अभी मुख्य सिद्धांत शुरू होगा न से क्योंकि चेत है ना इसकी व्याख्या हो रहा है शास्त्रार्थ कर्म इच्छे ये जो पूर्व पक्ष है पूर्व पक्ष की व्याख्या इस पर एक अंतिम पंक्ति में आया सिद्धांत उसके पीछे दोहराएगा न दृष्टि न्याय हारण पत्ते है वहां से सिद्धांत शुरू होगा और उसी पूर्व पक्ष की व्याख्या कर रहे हैं क्योंकि शास्त्र ही क्रिया फल सिद्ध न शास्त्र इतना ही कह रहा है क्या क्रिया से फल की सिद्धि होती है कौन सा शास्त्र स्वर्ग का क्रिया भी शास्त्र ही क्रिया फल सिद्ध मा न ईश्वर है ईश्वराणी से कम फल प्राप्ति होती है ऐसा जो नहीं कहा गया प्रमाण अधिकार आनंद और दूसरी बात वह जो है चाहत की उत्तम और हमारे कल्पना को आप अनर्थक है ऐसा नहीं कहना क्योंकि प्रमाण अनर्थ किम नहीं और का अनर्थक है ईश्वर की अपेक्षा है ये कहना ठीक नहीं क्यों तो मानसिक ज्ञात है वेद भी प्रमाण से ज्ञात है ईश्वर आपके प्रमाणांतरमस्ती और आपके बस अनुमान और अर्थापत्ति के सिवाय और कोई ईश्वर की स्थिति कोई प्रमाण नहीं और अनुमान क्या है वेद से बाहित हो जाएगा अर्थापत्ति भी शब्द से बाहित हो जाएगा अतः जिसको जरूरत नहीं है प्रमाणांतरमस्ती ईश्वर के अस्तित्व कोई दूसरा प्रमाण ही नहीं सिद्धांत क्या ऐसा नहीं कर सकते दृष्ट न्याय हान अनुभव कहते कहते हैं जो प्रसिद्धि है और जो न्याय युक्ति है इनको भी आप वास्तव में त्याग नहीं कर सकते व्याख्या करेंगे जैसे तो सूत्रवाक्य सूत्रवाक्य क्या रहा है शाखा कर्म के पीछे न दृष्ट न्याय हानि करते हैं उनके पक्ष था शाप का कर्म लगे हुई दिखे यहाँ करना ना दृष्ट न्याय सकते तो है कि पूरा मिला के एक सूत्र बात क्रिया ही देगा इसको समझाएंगे क्रिया जो वास्तव में दो प्रकार कुछ क्रिया ऐसी हैं जो तुरंत फल देने वाले दुष्ट फला और कुछ क्रिया ऐसी होती जो और फला अच्छा दुष्ट फला भी देने वाली उसे भी दृष्टिफल जो होती है उसमें भी दो प्रकार की एक तो आनंद फला आगाम फलाचार एक तुरंत ही आनंद नहीं होगा और दूसरा तो इसी चरण में आगे देने वाला अभी देगा जब नहीं देगा लेकिन तत्काल नहीं जैसा आपने खाना खाए तत्काल भूख मिट गया ना ये तो है नहीं कि दो साल बाद भूख मिटेगा आज खाना खाओगे फिर तो कौन खाए आज खाना खाओगे दो साल बाद भूख मिटे वैसे तो भोजन किस काम पाते घूम तो परेशान करते रहे खाने के बाद में ऐसे नहीं इसलिए होता क्या है आपने खाना खाया तुरंत गया इसको कहते हैं अनंतर अब ये उड़ान में फल देते और फिर जैसे आपने खेती में बीज बोल दिया आज बीज बोल दो घंटे भर बाद फसल काट के लाओ ऐसे तो होता है अब उसको जो टाइम लगेगा तीन महीना चार महीना जैसा तो फसल कोई छह छह महीने का फसल भी होते हैं उसमें बारिश तो रहती है इसी प्रकार से बच्चों को पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं तीस साल पढ़ा दिया उनको पढ़ा लिखा करके जो ध्यान बना दिया नौकरी करेगा अपना कुछ आपको व्यवस्था अच्छा है और तो आप तो उसको खिलाते करेंगे अपराध देंगे खाना देंगे जो कहना चाहेगा तो उसको जो मांग रहे सब दूर करना कोई बोलेगा नहीं ऊपर लेके नौकरी पाए रहो और पा करके आपको रोटी दे तेरे आशा बुद्धि रहती है भविष्य में जो जो है बड़ा नौकरी करेगा और हम तो हमारे देहात में जो होती तो इसी वजह से जो अपना लगा रहता है बेचारे माँ बाप ये सब आगामी था वही दृष्टान नहीं है अनंत फल था गति बुझी लक्ष्य अनंत फला का दृष्टान क्या है गति बुझी लक्ष्य आप जा रहे हो जाओगे जो जगह बचे वो जगह मिल जाएगा यानी कि जाके पहुंच गए बाद तो आप आए मिले ऐसा नहीं जिससे ना आपके गमन समाप्त होकर गांव समझ कर दिया वो शिक्षा आपको गांव मिल गया भोजन भी इसी प्रकार कालांत फला कृषि सेवा के लक्षण कालांत फल कौन है कृषि है सेवा है सेवा में करते हैं तो उसका तत्काल फल नहीं मिलता सेवा का फल बहुत बार मिले उनका शुद्ध का ब्रह्म ज्ञान मिले बहुत समय लगता क्योंकि तो अनंत को और गिरी एवं जो अनंत फला क्रिया होती है वो बल देकर साथ साथ नष्ट होने वाली होती है और के साथ ही अपवर्जन हो जाता है उसका धन्यास हो जाता है वो क्रिया उसी समय समाप्त हो जाता है साथ साथ फल लेकर के जैसे अपने खाना खाते खाते तृप्ति भी होते जाता है और तृप्ति होते होते आप खाना बंद कर पूरा बहुत हो गया देते ही रहे आपको लगातार खाते रहेंगे चौबीस घंटे तो हो नहीं सकता एक सीमा है फिर वहां पर आप कहेंगे बस हो गया एक साथ समाप्त हो फल देने के साथ साथ ही नाश हो जाता है अनंतर फल प्रदान करने वाली क्रियाएं कारण के फला तुम तो उत्पन्न प्रध्वंस में लेकिन कारण के फला जो क्रिया होती है तब तक उस क्रिया को मानी जाती है जब तक वो फल प्राप्त नहीं होता फल प्रतीक्षण उसको प्रध्वंस महान इसलिए वर्तमान का रचन किया आज क्रिया परिसमाप्त है बिल्डिंग बना रहे हैं रास्ता भी बन रहा है बन रहा है बन रहा है बन रहा है जैसे उसका लग जाए बंद ही नहीं तो कहा जाएगा इस बिल्डिंग के वर्तमान का ही चल रहा है जब तक बन रहा है तब यहाँ के आरंभ से लेकर उसकी समाप्ति होने तक को लेना ये नहीं कि रोज आपने बना के छोड़ के चले आए तो उसी को हो गया नहीं बन गया तो क्या जब पढ़ाई चल रही है अरे इतने से बन रहे हो लोग बोलते नहीं हो लेकिन भूत हो गया है काम लेकिन उसको भी वर्तमान में गिर कर बताते हैं इनके पूरा वर्तमान ही माना जाए जब से शुरू किया है जब समाप्त नहीं होगा तो पूरा जरा उस अध्ययन को वर्तमान का ही माना तो कुल मिला करते इसलिए कहते हैं कि देखो कि इसलिए कहा इसने क्या उत्पन्न पर नहीं जो में फल देने वाली होती है जब फल उत्पन्न हो गया तब वो ध्वंस हो जाए आप उससे आज अधीन भी कृषि से वाले फलम मात्र सेविया देवी कृषि सेवा है फला क्योंकि अपने अधीन है कृषि का फल सेवी के अधीन है सेवा का फल आत्म स्वयं अपना अपने अधीन होता है क्योंकि कृषि जो है आपने बीज बोल गया जो घर में सो गए काम थोड़े चलेगा रोज चक्कर काटना पड़ता है खेती का रोज देखना पड़ता है घास को खाने पड़ते हैं बुराई बोलते हैं बुराई करना पड़ता है पानी देते रहना पड़ता है कहीं कीड़े न पड़ जाए दवाई देते रहना पड़ेंगे मैं रोज एक सेकंड कम से कम उसको काटती नहीं है इसलिए रोज क्या कर रहा है वो वॉकिंग करके नहीं आ रहा है वो कृषि करके आ रहा है और क्या होगा उसको वो कृषि करने गया खेती के लिए है काम करने गया है वो कुछ नहीं कर रहा घूम के आ रहा है तो भी उसका माना जाता हूँ खेती करके आया कभी करता भी है पानी छोड़ना है करना तो पड़ेगा क्या यह बंद करनी पड़ेगी खोलनी पड़ेगी सब तो करेगा वो तो इस तरह से कृषि है स्व के अधीन है और सेवा का फल भी सेवी के अधीन है जिसकी आप सेवा कर रहे हैं उसकी मुर्गी है आपकी सेवा का फल कम होगा यथा न उभय न्याय स्वतंत्र कर्म तत्व फलम दृष्ट जिसने के उभय न्याय व्यतिरिके न न्याय में यथोक्त नियम द्वय जो नियम द्वय दृष्ट फल वालों के लिए और अदृष्ट फल वाले होते दो प्रकार के माने गए हैं इस नियम द्वय से छोड़कर अन्य को कर्म के फल प्राप्ति का रास्ता दिखता है इसलिए भी आप रहिएगा जो फल है वो भी स्व के अधीन है जो दृष्टफल में दोनों प्रकार चाहे वो अनंत फल हो चेष्टानंद फलाम वो आपके ही है ना थाने सामने रहती हुए आप खाना नहीं खाओ भूख कैसे निषेधा यदि आप भूजी क्रिया का फल चाहते हैं तो आपको भोजन करना पड़ेगा तो आपके अधीन माना फल तो दृष्ट क्रिया फल में जो तो बड़ा क्रियाएं होती है वो भी व्यक्ति का अधीन है जो कालांतर भावी होने वाला है जन्मांतर की बात नहीं इसी जन्म में अभी जन्म आगामी फला जिसको कहा गया उस आगामी होने वाले में क्या है वह भी आपके अधीन है सेवी के अधीन है तो किसी न किसी के अधीन होकर के उस क्रिया का फल मिलता है ये दृष्टांत होगी इसीलिए अधिष्ठा के लागू करोगी जब दृष्टि बन जो हम देख रहे हैं चाहे वो अनंत फला हो चाहे आगामी फला हो कोई भी दृष्टि फल संबंधित क्रियाएं होती है वह तो स्व से आदि के और धीन होकर के फल देता है तो ये कर्म स्वतः अपने आप फल देने में समर्थन होती है था तथा अतिरिक्त बना जो जन्मांतर भारी जो होते हैं उन कर्मों का फल को भी किसी न किसी अधीन होकर के देता है ये मानना ही पड़ेगा इसे कहते हैं उभय प्रकार का जो व्यवहार हमने देखा उसके जो उक्त जो न्याय उभय न्याय मैंने यथोक्त जो न्याय युक्ति द्वय जिष्ट फल का जो दोनों प्रकार का भेद अनंत फला हो चाहे आगामी फला हो दोनों से भिन्न कोई किसी तरीका स्वतंत्र रूपेण कर्म तथोवा फलम दृष्टम न दृष्टम न दृष्टम के तो नहीं होगा क्योंकि दो तरीके से अलग तीसरा कोई तरीका है भी नहीं और कर्म स्वतंत्र रूप से भी फल देने में समर्थ तथा कर्म न प्राप्त नृष्ट न्याय हानि उपबोधित है लेकिन कर्म न प्राप्ति में ये जो दृष्ट न्याय है दृष्टि युक्ति है इसको त्यागना या खंडन करना संभव नहीं है तस्मात तो शांति यागारी कर्मणी नित्य कर्तृत्व लागे ईश्वर सेव्यायोग यागादि रूप फलदात उपदित सच आत्मबोध कहा इसलिए मानना पड़ेगा शांति कर्म नहीं कर्म तो नष्ट हो गए नित्य कर्तव्य हर विभाग ईश्वर हो इसलिए नित्य को ही और इसके तरह किया हुआ कर्म इसके फल विभागों को जानने वाला कोई ईश्वर नाम का वस्तु को जैसे की दृष्टान में क्या देखेगा सेवी आदि सेवी आदि रूप फल जाता यागादि के अनुरूप फलदाता ईश्वर उपपदते सच आत्मभूत सर्वस्व अनुगौण होगा ईश्वर भी कहीं दूर बैठ करके देखेगा तो काम चलेगा नहीं वही लोक में बैठ करके वहां से देखेगा और यहाँ हमारे कर्मों को समझ लेगा है? कैसे समझेगा ये समझ सकेगा दोनों के दोष वहां भी लागू हो जाए योरक्ष दोष के कारण से तो उसमें भी कन्या और उसका ग्रहण नहीं कर पाए गए इसलिए वो ईश्वर भले कहा जाए कि वो ऊपर सात आसमान के ऊपर है या कोई नहीं है कोई कदम लोग नहीं हुई कहा आके नहीं वहां कहीं नहीं है वहां रहेगा तो यहाँ क्या हो रहा है पता नहीं चलेगा जितना भी ध्यान लगाएगा तो नहीं पकड़ सकता इसलिए क्या करता है अपने आप को सभी को आत्मभूत होकर के ज्ञान एवं सर्वभूतानी ईश्वरा सर्वभूतानी निर्देशीय दृष्टि न भावयन सर्वभूतानी श्रृंगारोणानी देश में बैठ करके अपने मैं सबको दौड़ा कैसे आ जाएगा एक इतने अरबों खरबों टुकड़ों में पड़ जाएगा सके हो गए ना गिर टुकड़े टुकड़े में आ जाए ईश्वर तब कहते हैं वो अपनी माया से धर्म के ग्रस्त अपनी माया इसलिए कहते हैं वो क्या है वो ईश्वर सर्वस्व आत्मभूत सभी का वो आत्मभूत होकर के रहता है सर्व क्रिया हर प्रत्यय साक्षी सगल क्रिया और उस क्रिया जिन्हें फल के ज्ञान हम साक्षी है सर्व क्रिया सर्व जन फल और सर्व प्रकार के आपके मानसिक ज्ञान सारे चीजों का वह साक्षी होता है नित्य ज्ञान स्वभाव और नित्य ज्ञान स्वभाव वाला है शुद्ध ही हो अपनी माया के माध्यम सब जगह व्याप्त हो रहा हो सभी के हृदय में संबंधित होकर सकल जीवन और क्रियाकर्म ज्ञानों को देख रहा होगा उसके बावजूद भी वह अपने नित्य ज्ञान स्वभाव वाला ही रहता है क्यों संसार में असंस्पृष्ट क्योंकि ईश्वर ऐसा है तो संसार के धर्मों से रागत के आदि से संबंधित नहीं होता कोई उनको बड़े भोजन पूजन कर रहा है तो उसके जो बड़ा आसक्त है उसे तो देखने लग जाएगा और जो व्यक्ति भजन नहीं कर रहा है तो सिर्फ देखेगा तो नहीं नास्तिक है कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है तो सारा चीज सुन रहा है इसलिए कहते हैं कि देखो वह संसार धर्मों से है श्रुतेश्च प्रमाण दे एक तो बोले दृष्ट न्याय भाग अनुपत्य है एक हेतु दिया दूसरा हेतु श्रुतेश अनेक हेतु देंगे ये हम्म। सब उसी के साक्षात कर्मण चेत न दुष्ट न्याय हानुपत्य तो नंबर एक श्रुते दो श्रुते तीन अभिषेक चार चारों को एक सूत्र आपको समझना वहां से यहाँ तक थोड़ा श्रुतिश्च अन्य श्रुतिया प्रमाण भी ईश्वर फलदाता उपलब्ध है ईश्वरी फलदाता है श्रुति के आधार पर उत्पन्न हो जाता है निमित्त बाह्य जरा मृत्यु मक्ति विजरा मृत्यु हो सत्यताम सत्य संकल्प येष सर्वेश्वर पुण्यम कर्म कार्य भी न नित्य में लोगों लोग दुखे न विपरीत संसार भर में असंस्पृष्ट उसे कठोर परिषद दे रहे हैं न लिप्यते तो लोक दुख के न बाह्य लोक के दुख से बाह्य रूप से वो लिप्त नहीं होता आंतर से शब्द की बात है बाह्य से ही नहीं है जरा मृत्यु चलते थे उसके अंदर जरा मृत्यु भी नहीं है जरा मृत्यु पहला वाला कंटा दूसरा वाला नहीं तीसरा वाला छान दोगे सत्य का सत्य समुद्र वह भी जान दोगे विज्ञान स्वभाव है उसके लिए प्रमाण दिया वो सत्य काम है वो सत्य संकल्प और तेज सर्वेश्वर यही सर्वेश्वर है सर्वेशम आत्मा सभी का आत्मस्वरूप विद्यमान है माया के द्वारा इसलिए वह सदियों को ईश्वर सभी पर अनुशासन करने वाला सभी नियमन करने वाला है यह होता है मांडव उपनिषद छह नंबर पहला कठिन दो दो ग्यारह मांडव क्या छह पुंगन गर्भकार यदि ये कौशिक की ब्राह्मणोपनिषद है तीन नौ पुण्यम कर्म वही पुण्य कर्म कराता है वही पाप कर्मों को भी कराता है क्या कराता है तो, तो वो बहुत खुद करा के उसकी जिम्मेदारी है गड़बड़ हो रहा है तो कराता का तात्पर्य वो तो प्रेरक है अनंत अनष्ट विचार श्वेता श्वेता चार छह मुंडन वही है अनस्टन्य अभिचार का सिद्धि तो बिना जो कहा था ना उसने की पहले तो सभी का आत्मभूत है सभी का वो आत्मभूत है उसके बावजूद भी वो किसी भी क्रियाकलाप का संबंध वो नहीं रहता उस फल के कोई संबंध एक तो आज वो है जो स्वाभाविक फलम भक्ति और दूसरा अनुसंधान अविचार अक्षर से पूजा करेगा बिगाड़ने तीन आठ नौ इत्यादि ने एक नित्य मुक्त सिद्ध इत्यादि स्पष्ट शब्दों के द्वारा असंसारी एक ईश्वर नामक आत्मा नित्य मुक्त आत्मा सिद्ध नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध जो है ईश्वर नामक आत्मा सिद्ध जाता है स्मृत शब्द के बाद स्मृत स्मृतिया भी है क्या है सहस्रशो नित्यम पहले क्या गिनाऊ स्मृतियां तो हजारों है हो मुक्ति हो तो गिना भी देता और सब बराबर हजारों ही अपने आप देख लेना तो कहता है ये सारी श्रुति स्मृति जो ईश्वर अस्तित्व को कथन करते हैं ये अर्थवाद ये अर्थवाद नहीं हो सकता क्यों अन्य योगित्व सदी विज्ञान उत्तर करता क्योंकि इनका अर्थ अन्य कोई अर्थ योगी नहीं है अर्थ योगी न होता हुआ स्वार्थ में विज्ञान को बाधक है क्योंकि अर्थ लक्षक नहीं है और स्वार्थ बोल का कोई बाधक भी नहीं प्राचीन वाक्यों के द्वारा कोई दूसरा कर्ता का प्रशंसा हो इस तरह का अन्याय का उद्बोधन करने का सामर्थ्य नहीं है और जो स्वार्थ बोर्ड करा रहे ईश्वर सिद्धि उस ईश्वर से तो बाधक को दूसरा प्रमाण इसलिए कहते हैं अनन्य योगित सती विज्ञान और स्वतुकता अर्थवाद छेद अभी न चोत्पन्न विज्ञान होता यदि अर्थवाद मान के चलेंगे आप है? तब भी हो नहीं सकता है क्यों उत्पन्न विज्ञान न बाध्य थे क्योंकि जो उत्पन्न विज्ञान है ईश्वर ऋषि के बोध जो ईश्वर है ईश्वर से विज्ञान जो उत्पन्न हुआ उसको बांधने वाला कोई शास्त्र नहीं है एक और हेतु नहीं अप्रच्छेदाक्षर नास्ती निषेधोस्ती कहीं यदि साक्षात निषेध तो है नहीं ईश्वर नास्ती ईश्वर नहीं है ऐसे कहने वाला कोई प्रच्छेद वाक्य भी प्राप्त नहीं है प्राप्त भाव निषेध न उत्पत्ता अगला सूत्र वाक्य है पूर्व कहता है नहीं होते ईश्वर प्राप्त तो नहीं हो रहा आज तक तो कोई ईश्वर से मिला है देखा है बात करके आया है प्राप्ति नहीं होती होगी अरे होता कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो हम लोगों से मिल गई रहता मिलना चाहिए एक नास्तिक ने रामकृष्ण जी से पूछा स्वामी रामकृष्ण जो है अमेरिका में एक व्यक्ति ने यही पूछा महाराज जी ने पास ईश्वर से मिलना आप मुझे मिलाओ तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है मेरा दो व्यक्ति का मिलना तो तरीका जो है मिलने की तरीका दो तरीके से एक या तो तुम उनके पास चले जाओ मिल लोगे है ना तुम उनके पास जाके मिल सकते हो वो तुम्हारे पास आ गए तो हो सकता है तो वो देखने सोचा तो मैं तो नास्तिक हूँ मेरे पास ईश्वर आ जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा तो लोग दे देंगे ईश्वर आ गया उनके यहाँ वापसी करके दूसरे क्यों बुलाया उसको निमंत्रण से क्यों विदेश वहां अमेरिका सिस्टम ही आएगा बिना बुलाया नहीं जब तक और वो ईश्वर आगे घर आ रहा थे तो आप निमंत्रण तो दिया वापसी को तो ईश्वर को क्यों निमंत्रण दिया उनको तो मालूम हो गया ईश्वर आ जाएगा तो आपको सब देख लेंगे कहीं इनके आप ईश्वर अतिथि बन जाएगा है मुश्किल है ठीक नहीं तो मैं ईश्वर के पास जाऊंगा मुझे ईश्वर का एड्रेस दे दो मिलूंगा उससे ने कहा देखो यहाँ से वो सात लोगों के ऊपर ब्रह्म उसको इस पृथ्वी लोग को तुम पार नहीं कर सकते वो सातों लोगों को पार करके कैसे जाओगे इस पृथ्वी लोग के अंतर्गत भी ये जो पृथ्वी है भूलोक के अंदर जो पृथ्वी है इसको भी तुम पार कहाँ कर पा रहे हो अच्छा कोई एरोप्लेन नहीं बना सकता रॉकेट नहीं बना है तो तुम कैसे सातों लोगों को पार करोगे भाई ये तो एक ही है तो तुम ऐसे करो बैठ के जो है मुझे ईश्वर को मिलना है मुझे ईश्वर को मिलना है ऐसा बोलते बोलते बोलते बोलते बोलते मर जाओ ठीक है तो जब मर जाओगे एक मन में सोचते मरोगे तो अपने आप को वहां पहुंच जाओगे ये बड़ा मुश्किल है हम तो जिंदे ही मिलना चाहते तो मरने के बाद मिलने का क्या गारंटी है तो मिला ये पता क्या चले मैं मिल गया था मुझे कैसे पता चलेगा तो इसलिए ठीक नहीं है मैं मरने के बाद ईश्वर से नहीं मिल सकता इसलिए मैं ईश्वर से उसके पास नहीं जाऊंगा कोई बात नहीं चाहे कोई कुछ भी कहेगी ईश्वर को मेरे घर पर अच्छा तो ईश्वर को तुम्हारे घर भेजता हूँ बोलते हैं कैसे दो जो तो अपना नाम लिखा अगर ये नाम वाले तो हजारों होंगे किसी वजह से कौन जाए तुमको मेरे पास आएंगे इधर जाऊंगा मंदिर में काम देंगे तो ये मेरे मकान नंबर वाला भी तो तेरे देते हैं नंबर मेरी कहते नंबर इधर रोड लिख दिया एक रोड का एक नाम दूसरे शहर में आ सकता है तो फिर शहर का नाम लिख दिया देश का नाम लिख दिया सब लिख करके उन्होंने कहा कि मान लो तुम इस मकान चौबीस घंटे जिधर रहते हो समझा पाओ तो? कभी शहर आगे तो क्या करोगे शहर के आदमी क्या जब तुम तुमने अपॉइंटमेंट तो दे नहीं रहा आपको तो बात तो हुई नहीं है अपॉइंटमेंट तो हुआ नहीं कितना बजे आएंगे एनी टाइम आ सकते हैं तुम सोचते रहो तो तुम मार्केटिंग चला गए बाहर तो अपने ऑफिस चले जाओगे कहीं नहीं करते रहो इनका का भी दे दूंगा और तो ऑफिस में तो यहाँ बोले को भी दे दो तो स्वप्न में रहोगे तब आज जाओ तब क्या करोगे कैसे मिला कैसे हो विश्वास और बात तो देखो इस गड्ढे से आने वाले जानने वाले नहीं है ईश्वर ऐसे तुम ईश्वर को मिलना चाहो तो नहीं भगवत एक रास्ता है जो मैं कहूंगा वो खबर है क्या बस चुपचाप बैठ करके आंख बंद करो मैं जो बोलूंगा वही तुम बोलना तो एक मुझे कर दिया और कहा कि जाओ ठीक है दिन हम्म, खाना पीना लक्ष्मण का शौच के सिवाय कहीं भी एक भगवान है तो होना चाहिए लेकिन क्या सात रुपये मिला आए क्या किया पूछे सात जनवरी तो दिन है कैसे मुझे कैसे आज हमारे लक्ष्य नहीं आ जाए

कैसे कर देने का मुझे मालूम है आप लोग कहोगे क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि गांव से बजा दिया सारे गाय हो गई लोटिया नाचते आ गई झूठ है जब कहानी झूठ आप लोग ऐसा वर्णन करते करते करते बोलते बोलते सीधा जहां भाषण के दृष्टि सूत्र सड़क पर चले गए चलते चलते चलते चलते बदनाम कर वहां चलते सुदामा ने बोलते हुए आकर्षण कर लिया भाषण को सारा उनके पीछे पीछे जहाँ वहां चौक कर पूरे बोलेंगे न वो बोल रहे मौन तक बोल रहे अब बताओ मेरा ये कहा हो होश में आओ में तो देखो मैं साधारण मनुष्य होकर अपने वाणी की योग्यता से तुम याद खेल चला सकता हूँ तुमको तो पता ही नहीं तुम कहा हो हॉल में बैठे थे कैसे तुम पहले चले आए यहाँ और सड़क पर खड़े होकर सुन रहे मेरी बात कैसे हो गया जो मैं साधारण आदमी कर सकता हूँ तो ईश्वर क्या मुझे बावत्री बन गया गौ जो अपने होशावाप खो करके गोपिया होशावाप हो करने दौड़े आई तो कौन सी बात है फिर उसको बोला ये भाव की जरूरत है तुम्हारे पास ईश्वर लेकिन मेरे से आकर्षित होकर आप आ गए ईश्वर से आकर्षित तुमको होना है तब तुमको वैसे ही होना पड़ेगा समर्थ मेरे शब्दों का प्रिय स्वामी सुनते गए सुनते गए मेरे लिए समर्पित हो इतना तल्लीन हो गए मेरे प्रति मेरे वाणी के प्रति आप अपना होश को हो इसी प्रकार से जब तुम उस परमात्मा के वाणी को परमात्मा के नाम को तो विश्व तल्लीन हो जाओ तब तुम कुछ तो ये सबसे बड़ा भगत जैसे खानदान भगत आज भी रामकृष्ण मिशन वंशित है लाखों डॉलर हुआ है दोनों इतनी निष्ठा हो गई तो कहने का मतलब अभी कृष्ण प्रश्न क्या प्राप्त बाबा ईश्वर तो प्राप्त नहीं कहा प्राप्त तो मेरे तो भाई मानो जवाब दे दिया इसका क्या क्या करेंगे न इनसे प्राप्त भावात प्रतिषेध जैसे हिंसा सभा भूताणी के समान कहीं हिंसा प्राप्त हो तो अपना निषेध होता है तो पीछे कहता है ईश्वर है ही नहीं इसलिए ईश्वर का अपने कहा प्रच्छेद भावात ईश्वर और आस्ती ऐसे कहीं प्रच्छेद नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ईश्वर ही नहीं है अरे ईश्वर कहीं होता संसार में तो उसका निषेध नहीं करते जैसे हिंसा प्राप्त रागत हिंसा करना राग हिंसा उसको निषेध करने बात चाहिए माँ हिंसा करो गोदान ने कहा मैंने अन्यथा प्राप्त को ही प्राप्त हो सकता निषेध न्याय ईश्वर प्राप्त ही नहीं पाता ही होता ही नहीं ईश्वर नाम का चीज इसी वजह से वेदों में कहीं उसका निषेध भी नहीं हुआ माइंड से इत्यादि प्राप्त बाबा वृक्ष नारद चिन्ह ऐसा नहीं कर सकते ईश्वर सद्भाव न्याय से उत्थान ईश्वर के सद्भाव में हमने तो न्याय श्रुति स्मृति सब प्रमाण दे दिया है अथवा इन सब का संबंध दूसरे से अप्रच्छेदन कर्मण फलदाने ईश्वर कालादिना न प्रच्छेद ऐसा क्या अप्रच्छेदा इस मौके को जो पहले का अवधित को अप्रक्षेदा इसको प्रक्षेद नहीं हुआ कहते हैं कर्म फलदाने ईश्वर कालाधिदान न प्रचिनोस्ती कर्म का फलदातृत्व रूपेण ईश्वर कालादि निमित्तों को निषेध नहीं किया अर्थात फलदातृत्व ने ईश्वर कालादि को स्वीकार करना चाहिए नट निमित्तांत निरपेक्षम केवल न कर्तव्य प्रयुक्तम फलगम दृष्टम क्योंकि निजा निमित्तांतर निरपेक्ष होकर के केवल कर्ता के द्वारा ये प्रयुक्त होकर उसका अपना कर्म उसी को फल दे ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला हमने क्या हमको फल दे दिया ऐसा काम नहीं कहीं देखने को मिलता हमसे ही प्रेरित होकर हमने नौकरी की और हमने तनखा पाली हमने तनखा दिया किसको दिया खुद को दिया ऐसा क्या होता है दूसरे को तो देता है ना कैसे दे देते अपने आप को धोखा देते कोई इसीलिए हमेशा निमित्तांतर सापेक्ष होकर के ही कर्म होता नटी विनष्ट भी आधा कालांतर फल तो होगी और दूसरी बार विनष्ट याद स्वयं कालांतर में फल दे देगा ऐसा भी आप नहीं कर सकते क्योंकि सेवे बुद्धिवत सेवकेना सर्वेश हो तो संस्कृत संस्कृतायाम यादारी कर्मणा विनष्टे भी कर्म कर्मणी सेव्यादी ईश्वर फलम कर्तव्य करते भवती भी युक्तम सेव्य बुद्धिवत सेव्य बुद्धिवत सेवक क्योंकि सेव्य से सेवक संविधाना भवे यम बुद्धि अनेना हम सेवित फर्क क्या है सेवक और सेव्य में और ईश्वर कर्म करता है बहुत अंदर दृष्टांत विषम दिया जा रहा है इतने ही निमित्तांत सापेक्ष से क्या हमें लेना क्या निमित्तांत अपेक्ष सन्निधि को नहीं है सेवक देख रहा है ये मेरा सेवक है ये मेरी सेवा कर रहा है और इसको मैं इतना तुम तो खा लूंगा निर्णय हो चुका है नहीं या तो आपस में दोनों मिले बात तय हुई फिर वो काम किया उसे काम को देख भी रहा है और तब तो उसको पंखा दे रहा है लेकिन ईश्वर आपसे कोई बातचीत किया और आपसे तय हो क्यों रहा था ईश्वर के साथ मैं मैं अमुक अमुक कर्म करूंगा तो मेरे को आप कितना क्या दोगे फल स्वर्ग दोगे कितने वर्ष का फसवर्ग दोगे तो तय हुई थी आप में तो सन्निधि में ही नहीं न सामने से देख करके सुपरविजन भी नहीं कर रहा आप क्या कर रहे हैं कैसा कर रहे हैं गलत कर रहे हैं कोई काम गड़बड़ कर रहे हैं खराब कर रहे हैं यहाँ तो सेवी क्या है देख रहा है ना जो स्वामी है उस नौकर को देख रहा है एक भी काम गड़बड़ करने देता हो खराब करने देता किसी वस्तु को नियंत्रण कर रहा है लेकिन वो ईश्वर हम जब कर्म कर रहे हैं हमारा कोई नियंत्रण तो कर नहीं रहा मैं गलत कर रहा हूँ चाहे सीधा कर रहा हूँ नहीं जाना पहले काम करने वो तो नहीं आता न बोलता न लौटता न समझाता न कुछ नहीं कैसे मालूम ईश्वर है दृष्टान्त दास्तान से विषमता है ये कहते हैं सेव्य बुद्धिवत सेवक न क्या और ईश्वर तो कथम विद्या जाने ना अनिष्ट अत ईश्वर विशनष्टि सर्वज्ञ तब जवाब दिया उसके लिए उसमें और इससे फर्क है यहाँ से भी क्या है अल्पज्ञ जो मालिक है वो अल्पज्ञ है सर्वव्यापी नहीं है वो इसलिए उसको आमने सामने होना पड़ा बातचीत करके तय करना पड़ा और व्यवस्था देखनी पड़ी नियंत्रण करना पड़ता है समझाना पड़ता है कोशिश करना पड़ता है क्यों तो यहाँ सेवक सेवी दोनों ही अल्पज्ञ अभिधार्थन हम कहा ले रहे हैं सर्वज्ञ और अल्पज्ञ का पीछे कॉन्ट्रैक्ट है वहां वहां का जो निबंध है एक अल्पज्ञ है दूसरा प्रवज्ञ के साथ है आमने सामने खड़ा होने कोई जरूरत नहीं आज जमाना आ गया है आमने सामने होते नहीं है इंटरनेट के द्वारा परीक्षा दे दिया और मोबाइल पर इंटरव्यू हो गया न इसका आदमी का सफर देखा हो तो ना वो आदमी का सफर इसने देखा है किसके यहाँ नौकरी करना है वो आदमी कौन है कैसा है कुछ पता नहीं इंटरनेट से सारा काम हो गया एप्लीकेशन डाला गया टेस्ट भी हो गया मोबाइल इंट्री हो गया और सब कभी हम मुझे चल जाए अपने घर करना चालू कर वो आदमी वहां चला जा रहा है नौकरी चल रहा है पता नहीं उनको वो आदमी कौन है पंखा कब दिया कैसा होगा पर फोन फोन से सारा बात हो गया एक दूसरे को देखा ही नहीं के समाज को भेद अत्यंत अदृश्य है वो और कल सामने खड़ा हो जाए और आपको कुछ क्यों क्या सीधा बोले अब क्या तो कौन आगे बोलने उनको तो बोलना पड़ेगा अरे वही मालिक हूँ मैं इनको लेने वाला नहीं हूँ बोले तो मैं करना नहीं उसको नहीं तो गेट आउट कर देगा ऑफिस से बाहर हमें देखा ही नहीं होता अभी घटना घटी है हैदराबाद में घटना घट गई वो अमेरिका को मालिक था संस्था वो बिना सोचना कि आ गया मैं मान ही पा रहा हूँ करके कहा उसने सीधा आ गया वो ऑफिस चला गया उसने सबको नौकरी लगा रखा है वहां पर फोन तो इशारा हो गया है और सब नौकरी कर रहे हैं वहां कि जैसे अंदर गए तो उन्होंने बाहर कर दिया अपॉइंटमेंट लिया उनके क्या देंगे मेरे पास तो अपॉइंटमेंट दिया तुमने जो नौकरी कर रहे हैं तो आपने जो मेरे जगह उसको पहुंचना आपके हमारे सामने खड़ा है बसने वाले को करें हमारे बस बस बिना के किसे आ गया फिर उसने मोबाइल किया बाहर सड़क पे खड़ा होकर उसको बोला कि मैं अमुक अमुक आया हूँ मेरे को तो गैस पे बात कर दिया गया है और तुम बताओ मैं आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूं ये भी नौकरी का पक्का था आई एम बिजी मैं व्यस्त हूँ फाइल तो में तुम दो घंटे बाद आऊंगा मालिक होते हैं वापस चला गया फिर विदेशी भाई पर चला गया भारतीय पर चुके मार नहीं नहीं नौकरी काम कर रहे हैं दो घंटे बाद आने को कहा तो व्यक्ति चला गया होटल में रुका दो घंटे बाद आया मालिक असली मालिक ये स्थिति है मेरे धीरे में कौन गए ना जिससे सर्वज्ञ को समझना कठिन नहीं है अरे वो पराधी में अगर जान रहा इंटरनेट से जाना टीवी की सहायता लिया मोबाइल की सहायता लिया उसके माध्यम से आपको उसने जान दिया और आपको नौकरी भी दे दिया सब कुछ कर दिया चलो ये पराधीन अगर कर रहा है लेकिन तो ईश्वर भी क्या है यहाँ आप कर्म को नहीं कर पाता उसको टीवी की जरूरत नहीं मोबाइल की जरूरत नहीं है अरे क्यों स्वसर्वज्ञ है <clears throat> विशेषण दिया सर्वज्ञ ईश्वर बुद्ध हो तो अनुकृतायाम यागादि कर्मणा विनष्ट यागादि कर्मों के द्वारा नष्ट होने के बावजूद भी कर्मणी सेव्यादि ईश्वरात्म कर्तृभवती इसलिए कर्म का नष्ट होने पर भी उस कर्म का काल आने पर उस कर्म फल प्रदान उसको क्या बोलते हैं वहां मतलब स्वरूप हो गया योग सूत्र में कर्म फल के पाक के लिए विपाक कर्म फल फल का समय कर्म के फल का समय आ गया तो समय पर उस कर्म का फल को ईश्वर ठीक कर्म फल देता है कहने मात्र से निरोध होता है क्योंकि इस वस्तु का स्वभाव है क्या फल देनी है नियम काले इससे ये हो गया उससे वो हो गया लेकिन की वाक्य न आई देशांतरे कालांतरे कालांतरेगा पदार्थ स्वम स्वम स्वभाव न जगती और कभी अपने स्वभाव को त्यागती नहीं है तो जड़ है तो जड़ ही है चाहे किसी रूप में चला जाए किसी काल में चला जाए जड़ जड़ ही रहेगा वो तो अपने स्वभाव को त्याग कर उसके अंदर कर्तृत्व या बुद्धि आ जाए चेतनता आ जाए अनुभव दातृत्व उसके अंदर आ जाए तो यह तो असंभव नहीं देश कालांतर अग्नि अनुष्णुभवती देशांतर में या कालांतर में चला जाए तो भी कभी अग्नि नहीं हो सकती एवं गर्भ कालांतर फलम द्वित प्रकार में उपलब्ध दे इसलिए कर्म भी जो है कालांतर में दो प्रकार का उत्पन्न कर लेता है बीज क्षेत्र संस्कार परिरक्षा परिरक्षा विज्ञान तो प्रत्यक्ष फलम आदि बीज खेती संस्कार घोड़े आदि परिरक्षण पशु आदि से रक्षा करना उसका और पक्षी आदियों से भी विज्ञान से रक्षा का ज्ञान वाला कोई कर्ता की अपेक्षा को लेकर के ही कृषि आदि कालांतर कर देते हैं एवं विज्ञान सेवी सेव्य बुद्धि संस्कार अपेक्षा फलंच सेवादि इसे सेव्य मान पुरुष के विज्ञान वाला कोई सेवी व्यक्ति जो होता है उसकी बुद्धि में उस सेवक का अपना संबंध का ज्ञान का संस्कार डालना जरूरी है उसकी अपेक्षा को लेकर के उस सेवक को अपने सेवा का फल प्राप्त होता है यागार्य कर्म तथा ठीक उसी तथा यागार्य कर्मण अविज्ञान कर्त अनुभवते है अविज्ञान वाला कोई कर्ता की अपेक्षा से फल प्रदान करेगा ऐसा नहीं कर सकते लेकिन विज्ञानवान पुरुष के द्वारा ही फल प्रदान करके देखने को लोगों में भी मिलता है कालांतर फल क्योंकि अगर कहते हैं काला का विरोध कर प्रदान करने वाले हैं कर्म देश काम निमित्त ये पाक विभाग्य कर्म देश काल निमित्त और उसका फल के विपाक का इन सारे विभागों को जानने वाला ऐसा कोई ईश्वर नाम व्यक्ति होगा जिसकी बुद्धि में एक संस्कार छप गया कि अमुक आदमी ने ये काम किया है अमुक आदमी ने ये काम किया है ऐसे इससे ईश्वर की बुद्धि में संस्कार बढ़ गया उस संस्कार की अपेक्षा को लेकर के ही हम लोगों को अपना कर्म को प्राप्त करने को सेवा कर्मान रूप फलाज्ञा सेवी बुद्धि संस्कार अपेक्षा फल से जैसे सेवा आदि कर्म के अनुरूप फल देने के ज्ञान वाला सेवी के बुद्धि में उसके संस्कार बैठ गया तीस दिन में से बाईस दिन काम किया है आठ दिन इसने छुट्टी मारा है उसके दिमाग में संस्कार ना हो तो तीसों दिन का पंखा दे देगा वो मालूम है कि कितना दिन छुट्टी किया कितना क्या हुआ क्या नहीं हुआ पूरा उसके दिमाग में संस्कार होता है उस संस्कार की अपेक्षा करके ही वो उस सेवक के सेवा का पंखा भी है तस्मात सिद्धा सर्वज्ञ ईश्वर सर्वजन फल विभाग साक्षी सर्वभूतांतरात्मा एक और अंत भी जोड़ दे सर्वभूतांतरात्मा अभी तक जो बात उसका निष्कर्ष नहीं लिया तस्मात के बाद सिद्ध हो गया तो सर्वज्ञ ईश्वर है कि सभी जीवों के ज्ञान या कर्म और उसके फल के विभाग को जानने वाला और उन सब का जो साक्षी है ऐसा ईश्वर से सिद्ध हो गया ईश्वर एक और बात है कि ही सर्वभूतांतरात्मा है उसके आने को प्रमाण देंगे सर्वभूतांतरात्मा कैसे निश्चय कर दिया आपने